بسم الله الرحمن الرحيم والفصاحة في المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح اور فصاحة في المتكلم ایسا ملکہ ہے ایک ایسا ملکہ ہے یقتدر بها जिसके ज़रिए मकसूद को ताबीर करने पर कादिर हो यानी मुतकलम कादिर हो बिलफिन फसीहन लफ्ज़ फसीह के साथ यहाँ से मुसनफ़ अली रहमा फसाहत फिल मुतकलम को बयान फरमा रहे हैं कि मुतकलम फसीह किसको कहा जाएगा मुतकलम फसीह उसको कहा जाएगा जिसके अंदर इस बात की कुदरत पैदा हो गई हो कि वो लफ्ज़ फसीह के साथ में अपने मकसूद को ताबीर कर, कर सके जिसके अंदर इस बात की कुदरत हो कि वो लफ्ज़ फसीह के साथ अपने मकसूद को ताबीर कर सके ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने मकसूद को लफ्ज फसीह के साथ कलाम फसीह के साथ ताबीर करे ज़रूरी यह है कि वो ताबीर करने पर कादिर हो अगर उसके अंदर इस बात की कुदरत है वो इस बात की ताकत और कुदरत रखता है कि जब चाहे जिस मकसद में चाहे उस मकसद में फसाहत के साथ कलाम कर सके तो कहा जाएगा कि ये मुतकलम फसीह है ये हुआ इस तारीफ का खुलासा अब दरमियान में कुछ चीज़ें हैं उनकी वजाहत सुन ली जाए मलकतन मलका कहते हैं मैंने एक बात बतलाई थी कि जो सिफत इंसान के अंदर कोई सिफत पैदा होती है तो वो शुरू में हाल कहलाती है शुरू में हाल कहलाती है और जब उस सिफत के अंदर मजबूती पैदा हो जाती है वो सिफत नफ्स में रासिक हो जाती है पेवस्त हो जाती है और वो जम जाती है अंदर उतर जाती है उसमें आपने माहिर हो जाता है तो फिर उस सिफत को मलाका कहा जाता है हाल शुरू में इसलिए कहा जाता है कि उसको इंसान कभी भी ख़त्म कर सकता है और मलाका इसलिए कहा जाता है कि वो गोया कि उसका मालिक हो गया है जब चाहे उसको इस्तेमाल कर सकता है ये जो लफ्ज मलाका आया यहाँ पर इस मलके के बारे में फरमा रहे हैं मलका किसको कहते हैं वहिया कैफियतन फिन नफ्सी और वो ऐसी कैफियत है जो नफ्स में रासिख हो यानी नफ्स के अंदर वो पेवस्त हो गई हो उतर गई हो वही जो मैंने बतलाया कि उसके अंदर इंसान को महारत पैदा हुई हो यानी उसके अंदर कुदरत हो वही कैफियत इससे इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं मुसनफ़ अली रहमा के जो मलका है ये मकूल कैफ में से है मलका मकूल कैफ में से है यहाँ तक बात को समझकर दरमियान में कुछ बातें हैं उनको अलग से समझ लेना चाहिए मकूलात होते हैं मकूलात अशारा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मकूलात के तहत हैं मकूलात के तहत मकूलात अशारा मकूलात महमूलात मकूल फलासफा कहते हैं फलासफा में से जो मुतकलमीन है वो कहते हैं कि तमाम के तमाम हवादिसात वो इन दस मकूलात के तहत हैं दस मकूलात क्या क्या है दस मकूलात में से एक है जोहर और बाकी नौ है अर्ज जोहर किसको कहते हैं जौहर वो है कि जो हम्म। जोहर जैसे तमाम अजसाम होते हैं की तारीफ है जोहर वो मकोला होता है जो बिनफसी ही और बिजाती ही कायम हो जो अपनी ज़ात के अतबार से ही कायम हो वो किसी दूसरे का मोहताज ना हो जो बिजाती ही और बिनफसी ही कायम हो दूसरे का मोहताज ना हो जैसे जिसम होता है अब ये है तो ये खुद कायम है दूसरे का मोहताज नहीं है हमारा जिसम है खुद कायम है दूसरे का मोहताज नहीं है कि इसका समझना दूसरे पर मौकूफ हो ऐसा नहीं होता है पेन खुद ब खुद एक अपनी जात रखता है है ना तो इसको कहते हैं जोहर दूसरी चीज बाकी अर्ज और उसकी जो है फिर नौ में है अर्ज किसको कहते हैं कि जिसका समझना दूसरे चीज के समझने पर मौकूफ हो वो खुद बिजात ही कायम ना हो खुद बिजाती ही कायम न हो इसकी दस किस्में हैं कम केस इजाफत मतान वजामिल फ़ैल इनफाल कौन कौन सी कम कम केस कम के मता फ़ैल इंशाल और वज़ा मिल्क हम्म, और क्या रहा कितने हो गई नौ हो गई तो नौ ही तो है तो ये नौ किस्में हैं ये मोइन को पढ़ाई जाती है फलसम के अंदर मोइनुल फलसफा पढ़ाई जाती है उसके अंदर ये सारी की सारी हैं इसका ताल्लुक कुछ वैसे तो कहने को तो कोई ऐसी मुश्किल बात ना थी लेकिन ये मुसनफ़ ने अब बयान कर दिया है तो इसको समझाना पड़ेगा ये भी समझ लो थोड़ी थोड़ी सी इनकी तारीफात देख लो क्या क्या होती हैं सबसे पहले है कम कम किसको कहते हैं कम कहते हैं जो लिजाती ही तकसीम को कबूल करता यानी अपनी ज़ात के अतबार से ही तकसीम को कबूल करता हो कम रूबियतन इंदक कम रूबियतन इंदक तो देखो तकसीम को कबूल किया ना है ना तकसीम को कबूल करता हो कम कहते हैं जो लिजाती ही तकसीम को कबूल करता हो और केफ की तारीफ उसके अंदर खुदा रही है केफ वो अर्ज है जिसका समझना दूसरे के समझने पर मौकूफ हो जिसका समझना दूसरे के समझने पर मौकूफ हो और वो अपने महल में तकसीम और आदम तकसीम का लिजाती और बिला वास्ता तकाजा न करता हो ये तारीफ खुद इसके अंदर आ रही है इसी तारीफ की वजह से ये सब कुछ बतलाना पड़ रहा है दो गई और तीसरी चीज मता है इजाफत है इजाफत किसको कहते हैं इजाफा तो वो नस्बत है जो एक शे को आरिज हो दूसरी नस्बत की तरफ प्रयास करते हुए एक शे को आरिज हो दूसरी चीज की तरफ दूसरी नस्बत की तरफ प्रयास करते हुए जैसे उबुवत बाप होना बाप कब होगा जबकि बेटा हो तभी तो बाप होगा बुनुवत बेटा होना तो देखो दूसरी चीज की तरफ निस्बत करते हुए कब होगा बेटा जब बाप होगा वो खुवत भाई होना भाई कब होगा जो है भाई हो जब तो अखुवत पाई जाएगी तो दूसरी चीज की तरफ निस्बत करते हुए इसको क्या कहते हैं इजाफत इसमें इजाफत हो रही है उसकी तरफ मनसूब हो रहा है और मता मता कहते हैं किसी शे का जमाने में हासिल होना किसी शे का जमाने में हासिल होना जैसे कौनुसाइमी हासिलन फी शहरी मुहर्रम कौनुसाइमी हासिलन फी शहरी मुहर्रम रोजे का मुहर्रम के महीने में हासिल होना और छोड़ दो रोजे का मुहर्रम के महीने में हासिल होना या रमजान के महीने में हासिल होना तो ये जो किसी ज़माने के अंदर जो हसूल हुआ है तो इसको कहते हैं मता मता के जरिए से तो सवाल भी होता है ठीक है ना और आइन के माना कहाँ आइन कहते हैं किसी शे का मकान में हासिल होना जैसे कौन जैदिन फिरदार जैद का घर में होना तो इसको क्या कहते हैं आइन वज़ा वह है जो किसी शे को आरिज हो उसके बाद अज्जा को बाज की तरफ नस्बत करते हुए वजह वो है जो किसी शे को आरिज हो उसके बाद अज्जा को बाज की तरफ नस्बत करते हुए जैसे टेक लगाने की हैत है टेक लगाने की हैत है करवट पर लेटने की हैत है इसको क्या कहते हैं वजह कहते हैं क्या कहते हैं वजह कहते हैं एक है मिल्क मिल्क वह है थे जो जिसम को आरिज हो इस एतबार से कि वो जिसम को मुहित है यानी जिसम को घेरे हुए और जिसम के मुंतकिल हो जाने से मुंतकिल हो जाती है मिल्क हैत है जो जिसम को आरिज हो इस एतबार से कि वो जिसम को मुहित है और उसके जिसम के मुंतकिल होने से मुंतकिल हो जाती है जैसे कपड़ा कमीज है कुर्ता है ये जो हयात है ये ऐसी कि जब जिसम कहाँ जाएगा दूसरी क्लास में जाएगा तो कपड़े ही रह जाएगा है ना खोलेंगे नहीं तो साथ रह जाएगा फिर तो देखो क्या होता है जब आदमी कहीं जाता है तो कुर्ता साथ के साथ रहता है पगड़ी बांध रखी है तो ये ऐसी है कि जब आदमी कहीं जाएगा तो पगड़ी साथ में जाएगी या नहीं कि जा रहा है तो पगड़ी पीछे पीछे आ रही है या आई नहीं रही है चला तो जगह पगड़ी यही रहेगी वहाँ उतार दी वो एक अलग बात है एक है फ़ैल फ़ैल किसी चीज़ का दूसरे के अंदर मुअसर होना किसी चीज़ का दूसरे के अंदर मुअसर होना जैसे काटने वाले का इस तौर पर होना कि वो दूसरे को कता करे काटे एक होता है फ़ैल एक होता है इंफ्याल इसकी इंफ्याल की तारीफ भी सुनो इंफ्याल किसी शे का दूसरे से मुतासर होना यानी उसके अंदर असर पड़ना फ़ैल और इंफ्याल ये करीब करीब दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं सेल असर करने वाला सेल के जरिए से जो असर होता है और वो जो होता है इंतहार वो मुतासर होता है जैसे मिसाल दी जाती है नाहू के अंदर भी जरब तो कता तो तन कता इंतहार की खसूसियात में से भी है ना असर को कबूल करना कता तो मैंने उसको काटा तो काटने का फैल उस पर हुआ तन कता तो उसने काटने के पेड़ को कबूल कर लिया यानी वो कट गया तो ये है इंसान तो ये अर्ज की किस्में हैं तो जोहर किसको कहते हैं हम्म जोहर किसी को याद है ना नहीं तुम्हें याद नहीं हुआ सामने क्या हुआ हम्म? जोहर वो मकूला है जो बिनफसी और बिजाती कायम हो यानी खारजी क़्याम में दूसरे का मोहताज न हो जैसा कि तमाम के तमाम अजसाम हुआ करते हैं फिर जो अर्ज है तो अर्ज ये इसकी नौ किस्में हैं नौ चीज़ों पर बोला जाता है जिनमें से एक केफ है जिनमें से एक केफ है उसी केव को यहाँ पर बतला रहे हैं कि केव किसको कहते हैं क्योंकि हम्म, इसके ये इन्होंने मैंने बताया अभी खातुन वही कैफियत कैफियत क्यों कहा कि वो ऐसी कैफियत है ताकि ये बात मालूम हो जाए कि ये जो मलका है ये मकूल केफ में से है ठीक है ना इधर देखो हम्म अब समझो वल कैफियतु वहाँ पर मैंने ये तारीफ बदला दी खुलासे मतलब ऐसी बदला दी फायदे के तौर पर कैफियत किसको कहते हैं खुद तारीफ करते हैं वल कैफियत अर्जुन कैफियत ऐसा अर्ज है ला युतवक़ या ला यतवक़ अला तअक़्क़ुल गैरी जिसका समझना दूसरे के समझने पर मौकूफ ना कैफियत वो ऐसा अर्ज है कि जिसका समझना दूसरे के समझने पर मौकूफ न हो और जो बिजाती और लिजाती कायम न हो जिसका समझना दूसरे के समझने पर मौकूफ ना हो गैर के समझने पर वाला यक तजिल किस्मत एक बात तो ये दूसरी बात और वो तकसीम को कबूल तकाजा न करता हूँ तकसीम का तकाजा न करता हूँ वल्ला किस्मत और ना ही आदम तकसीम का तकाजा करता हो कहना फी महल ही अपने महल में कहते कि वो तकसीम और आदम तकसीम का अपने महल में तकाजा न करता हो इकतज़ा अवलियन इकतज़ा अवली के तौर पर यानी लिजाती ही और बिला वास्ता ये हुई कैफियत की तारीफ अब ये जो इन्होंने तारीफ की है इसमें से बतला रहे हैं कि पहली क़ैद से क्या निकल गया दूसरी क़ैद से क्या निकल गया और तीसरी क़ैद से क्या निकल गया और चौथी क़ैद से क्या दाखिल हो गया इसी को फरमाते हैं फखाराजा बिलकैदिल अव्वली अलआराबनसबीयती नसबीयती मिसलज़ाफ़ती वलफ़ली वलफ़ाली वनहवी बस पहली क़ैद से आराज नसबिया निकल गए पहली कैद कौन सी थी ला अला जिसका समझना दूसरे के समझने पर मौकूफ न हो यह पहली कैद चूँकि जो आराज नसबिया हैं इनमें से एक का समझना दूसरे के समझने पर मौकूफ होता है मिसल इजाफती वलफेली वलिनफियाली वनहविदाली का मसला इजाफत है देखो तो इजाफत की मिसाल क्या दी थी मैंने उबूवत तो बाप का समझना किस पर बेटे पर मौकूफ है और बेटे का समझना गुनवत बाप पर मौकूफ है तो देखो ये इनमें से एक का समझना दूसरे पर मौकूफ होता है क्योंकि इनका इनमें से एक का समझना दूसरे पर मौकूफ होता है तो इसलिए ला ताकुल अला की शर्त से इस कैद से ये निकल गई समझे ना तो उसमें क्या है उसका समझना दूसरे का समझने पर मौकूफ नहीं होता और इनका समझना दूसरे के समझने पर मौकूफ़ होता है तो इसलिए क्या हो जाएंगी खारिज हो जाएंगी फिर कैद अव्वल से खारिज होगी इसी तरह फ़ैल है और इनफाल है फ़ैल के अंदर विजय क्या होता है काटना पाया जाता है है ना किसी चीज़ पर असर करना पाया जाता है इनफाल के अंदर किसी दूसरे का असर कबूल करना पाया जाता है तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका समझना दूसरे के समझने पर मौकूफ़ है तो ये चीज़ें पहली कैद से निकल गई अच्छा एक बात ये रह गई आराज नसबिया और आराज गैर नसबिया किसको कहते हैं आराज नसबिया यानी जिनका समझना एक दूसरे के समझने पर मौकूफ़ हो और आराज गैर नसबिया जिनका समझना दूसरे के समझने पर मौकूफ़ ना हो जैसे जोहर वगैरह इन्हीं में से है ये कितने सात हैं इजाफत है फैल है इनफाल है और वनाफी जालिका के अंदर आवेंगी तो जोहर कम केफ जोहर तो अलग है इसके अलावा कम और केफ ये दोनों तो हैं इनमें से ला जिनका समझना दूसरे के समझने पर मौकूफ नहीं होता है इसके अलावा जो है सात जिनमें से तीन ये हैं और बाकी दूसरे हैं तो इनमें से इनका समझना दूसरे पर मौकूफ होता है तो वो सब साथ निकल जाएंगे और ये तीन बाकी रह जाएंगे हम्म। तीन तो ये है तो ये तो गैर निसबिया है है ना इनमें से एक का समझना दूसरे के समझने पर मौकूफ नहीं होता है इनके अलावा जो सात हैं आइन वजा वगैरह इजाफत फैल इनफ्याल ये ऐसे हैं कि जिनका समझना दूसरे के समझने पर मौकूफ है हम्म मिसल इजाफ़ती वलफ़िल वलफ़ाल वनाफिज का मसला इजाफ़त पहल और इंतहाल वगैरह ये हुई पहली कैद से खारिज वबिकौलिना और हमारे कौल लायकतदिल किस्मत से खारिज होगी क्या अलकमियात क्योंकि कम क्या है अरे ऊपर दूसरी कैद क्या है वला यकतजिल किस्मत वो तकसीम को तकसीम का तकाजा ना करता हो और कम जो है वो तकसीम का तकाजा करता है जैसे ही बतला था ना मैंने तारीख में कम तकसीम का तकाजा करता है लिजाती ही तो इस कैद से वो निकल गया कितने निकल गए आठ अरे सात वो और एक आठ हो गया ना वो अभी कौलिना अल्लाह किस्मत अनुकता वलवाहदतु और हमारे कौल अल्लाह किस्मता से नुकता और वाहदत निकल गए कहाँ आया है ना वला किस्मता वल्ला किस्मता कि ला किस्मत यानी आदम तकसीम का तकाजा न करता हो इससे नुकता और वाहदत निकल जाएंगे नुकता किसको कहते हैं नुकता कहते हैं तरफ खत नुकता तरफ खत को तरफ खत क्या है देखो एक लकीर है एक लकीर और जैसे ये लकीर है ना ये जो लकीर है इसका जो आखिरी किनारा है बिल्कुल ये देखो जो खत है लकीर इसका जो बिल्कुल आखिरी किनारा है जिसका जिसका जुज ना हो सके जिसका कोई जुज ना हो सके तो ये क्या है नुकता है तो ये क्या है तकसीम को कबूल नहीं करता तो जब जुज नहीं हो सकता तो फिर तकसीम को कैसे कबूल करेगा तो हमारे को तो ला किस्मता जो अदम तकसीम को कबूल न करता हो उसके अंदर तो कोई मसला ही नहीं है तकसीम अदम तकसीम का और ऐसी वाहदत है वाहदत किसको कहते हैं दत्त एक तो क्या है नुकता नुकता किसको कहते हैं यानी खत का बिल्कुल एकदम आखिर है ना जो अदम तकसीम का भी तकाजा न करता हो वहादत कहते हैं शेर शे का गैर मुनकसिम होना शे का किसी चीज का गैर मुनकसिम होना यानी तकसीम ना होना तो देखो हमारा कौल अल्लाह किस्मत है इससे नुकता और वाहदत निकल गए वबी अवलियन तीन चीज़ें निकल गई तीन कैद से और हमारा कौल अवलियन अवलियन का मतलब इकतज़ा अवली के तौर पर क्या मतलब लिजाती और बिला वास्ता इससे क्या हुआ कुछ नहीं निकला दाखिल हुआ क्या इल्म बिल मालूम वो इल्म बिल मालूम जो तकसीम और आदम तकसीम का तकाजा करने वाला है जो तकसीम और आदम तकसीम का तकाजा करने वाला है वो इल्म मालूम इससे दाखिल हो जाएगा क्योंकि लिजाती ही और बिला वास्ता ये तकसीम और आदम तकसीम का तकाजा करता है अगर इसको किसी से मुतल कर दिया जाए किसी से मुतल कर दिया जाए अपनी ज़ात के अतबार से ना बल्कि किसी के मुतल कर दिया जाए तो मुतल के अतबार से तो तकसीम को कबूल कर लेगा मुतल के अतबार से तो इसके अंदर जो कहीं तकसीम को कबूल करेगा कहीं तकसीम को कबूल ना करेगा लेकिन मुतल की तरफ नस्बत ना करो उसके बगैर तक, उसके बगैर उसके अंदर ये सिफत पाई जाएगी कि वो न तकसीम को कबूल करे और न आदम तकसीम को कबूल करे तो यहाँ जो दाखिल होंगे वो वही दाखिल होंगे जो तकसीम और आदम तकसीम का तकाजा करने वाले हैं वकौलना अवलियन और हमारा कौल अवलियन ये किस लिए है लिया दखोला ही ताकि उसमें इल्म बिलमालूम जैसे दाखिल हो जाए इन बिलमालूम जो तकाजा करने वाले हैं तकसीम का और अदम तकसीम का ये तो एक गया के फलसफी बहस है लेकिन असल मकसूद क्या है वही है कि जो मैंने शुरू में बतलाया था कि फसाहत मतकलम वो ऐसा मलका है कि जिसके ज़रिए से मुतकलम मकसूद को लफ्ज़ फसीह के साथ ताबीर करने पर कादिर हो जाए बस इतनी सी बात है अब देखो यहाँ पर एक लफ्ज़ आया शुरू में मलकतुन इसके बारे में फरमाते हैं मलकतुन फ़कौलू मलकतुन इशार बन लव अबरा ये लव अबरा अनिल मकसूदी बिलफजिन فصيح لا يسمى فصيحا في الاصطلاح ما لم يكن ذلك راسخا فيه मलकतन ये खबर देना है इस बात की कि अगर मकसूद को लफ्ज फसीह के साथ ताबीर कर दिया जाए या ताबीर कर दे कोई शख्स बिलफ्ज फसीहन लफ्ज फसीह के साथ तो ला युसम्मा फसीहन तो उसको फसीह नहीं कहा जाएगा काय में फिल इस्तिलाह इस्तिलाह के अंदर मैंने बतलाई थी वाली बात शुरू में कि अगर कोई मकसूद को लफ्ज फसीह से ताबीर कर दे लेकिन उसके अंदर वो सिफत पेवस्त नहीं हुई है वो उसका मलका नहीं बनी है उसका वो मालिक नहीं हुआ है तो ऐसे आदमी को फसीह नहीं कहा जाएगा उसी को आगे फरमा रहे मालम नकुन का राशि खनफी जब तक कि वो सिफत उसके अंदर राशिख न हो गई हो उसके अंदर पेवर न हो गई हो वक़ाउल यकतदिर अलताबीर अनिल मकसूदी और उसका कौल मुसनफ़ का कौल यकतदिर ऊपर से जोड़ो कि फसाहत मतकलम वो ऐसा मलका है जिसके ज़रिए मतकलम मकसूद को ताबीर करने पर कादिर हो तो देखो यक तदिर अलग ताबीर अनिल मकसूद कह रहे हैं कि दूना यकूला युअब्बिर न ये के कहते क्या युअब्बिर कि वो ताबीर कर सके या वो ताबीर करे ये नहीं कहा यक तदिर कहा युअब्बिर नहीं कहा के फसाहत फ़िल्मतकलम मलकतन युबिरबिहा आलत ताबीर आलमकसूदी के फसाहत फ़िल्मतकलम वो ऐसा मलका है कि जिसके ज़रिए ऐसे मतकलम मकसूद को ताबीर कर सके है ना क्यों इसलिए कि ताबीर में और तकदीर में फ़र्क है कुदरत में और ताबीर करने में फ़र्क है क्या फ़र्क है कोई बताएगा हम्म ये लफ्ज़ यहाँ पर क्यों बदला इन्होंने यकतरू क्यों कहा अबिर क्यों नहीं कहा कोई आदमी जो है सिर्फ ताबिर जाते नहीं बल्कि उसके अंदर ये कुदरत होनी चाहिए वो तो कादिर हो चाहे ताबिर करे ना करे अदा करे ना करे लेकिन कुदरत होनी चाहिए जैसे मैंने एक मिसाल दी थी एक शख्स जो है किसी की फसीह बली उसने तकरीर याद की और उस तकरीर को जो है उसने एकदम कह दिया तो उसको फसी नहीं कहेंगे क्यों इसलिए कि ये मुआबिर तो है ताबिर करने वाला तो है बयान करने वाला तो है लेकिन इसके अंदर ये कुदरत नहीं है इससे कहते ज़रा दूसरे इस मकसद के अंदर ज़रा बयान कर देना हजरत फजाई लगा बयान कर दो अब वो जो है भाग भाग से रहना कि वो फसाद के साथ में दूसरे मकसूद के अंदर उसको मकसूद के अंदर बयान नहीं कर सकता क्यों इसलिए कि इसको मलका हासिल नहीं है ये उस पर कुदरत नहीं रखता कि फसाद के साथ में कलाम कर सके ताबीर कर दिए ऐसा हो गया जिसे कहा जाता है अंधे का तीर बटोरे में जानते हो अंधे का तीर बटोरे में है नहीं जानते क्या अरे कोई तो जानता होगा यूपी का ना कोई कोई हाँ, हाँ, ये कहते हैं जैसे अगर कोई आदमी कोई बात कहे और वो बात सही हो जाए तो कह दी जाते कि अंधे का तीर बटोरे में जैसे वो होता है कोई शायद घोंसला वगैरह होता है किसी जानवर का उसने तीर मारा निशाना विशाना तो जानता नहीं लेकिन मारा तो लग गया तो एक मिसाल बन गई है कि अंधेरे का तीर बटोरे में यानी मतलब तुक्का फिट हो गया अब ये चीज ने ताबीर कर दी लेकिन इसके अंदर वो कुदरत हासिल नहीं है हम्म। देखो इशार अरे यकतदिरु कहा ना के याबिरु बदला रहे हैं इशार युसम्मा फसीहन खबर देना इस बात की कि उसको फसीह कहा जाएगा जब के वो जिलाफी ही तिलकल मलाका उसके अंदर वो मलाका पाया जाए सवा उन ताबीर अवलमजद खा ताबीर पाई जाए या ताबीर ना पाई जाए वो पूरी ज़िंदगी में चाहे कभी उसको ताबीर ना करें कभी फसी कलाम ना करें लेकिन उसको मलका हासिल है तो उसको मुतकल में फसीह कहा जाएगा ठीक वक़ल बिलफिन फसीह और मुसनफ़ का कौल बिलफिन फसीह उन्होंने कहा लफ्ज फसीह के साथ क्यों कहा ये नहीं कहा बिकलामिन फसीह है ना कि फसाद फिर मुतकलम वो ऐसा मलक है जिसके ज़रिए मकसूद को ताबीर करने पर मुतकलम कादिर हो कलाम फसीह के साथ ये नहीं कहा क्या कहा बिलफिन फसीह लफ्ज फसीह के साथ क्यों जी ऐसा क्यों कहा ऐसा इसलिए कहा ताकि मुफरत और मरकब दोनों को ये आम हो जाए दोनों को शामिल हो जाए अरे मरकब ये तो जाहिर है कैसे जाहिर है कलाम जो होता है वो मरकब ही तो होता है और मुफरत को समझ में नहीं आ रहा हम बताएंगे कैसे एक आदमी जो है गिनवाता है कुछ चीज़ें तादाद को तो शुमार करता है गिनवाता है कुछ चीज़ों को किस में फसी जबान में तो अगर यहाँ पर कलाम कह देते तो वो इसमें दाखिल ना होते जैसे कहता है मिसाल के तौर पर गुलाम जारिया सऊब विसात वगैरह तो ये लफ्जिन फसीहन की वजह से तो इसमें दाखिल हो गए लेकिन अगर कह देते बिकलाम फसीहन तो ये दाखिल न हो पाते इसीलिए मुसनफ़ ये लफ्ज का लफ्ज यहाँ पर लेकर आए फ़कौल फसी हिंद और मुसनफ़ का कौल बिलफिन फसी हिंद ये क्यों है उमल मुफरदा वल वलमरकबा ताकि वो मुफरद और मरकब को आम हो जाए शामिल हो जाए अमल मरकबू फ़ाहिर बहरहाल मरकब तो ज़ाहिर है व अमल मुफरदू फ़कमा तकूल इंद तादादी बस बहरहाल मुफरद तो वो ऐसा ही है जैसा कि तुम तादाद के वक्त कहो गिनने के वक्त कहो क्या दारुन दारुन का माना है दार का माना घर गुलामुन गुलामुन गुलाम जारियतुन गुलाम गुलाम दारुन घर हाँ जारिया तुम जमाना बांदी और सऊबुन सऊबुन के माना साबुन सऊबुन साबुन सऊबुन है कपड़ा बिसातुन दिशातन और बताओ जल्दी बताओ है अब विसातन अरे बताओ हाँ विस्तर चला यानी इस तरह की चीजें वो अलग अलग शुमार करें तो अगर लफ्ज फसी कहेंगे तो ये शामिल हो जाएगा अगर कलाम इन फसीम कह देते तो शामिल ना होता इसलिए मुसलिम बहुत अच्छे हैं इन्होंने आम लोग जिक्र कर दिया वल बलागत फिल कलाम मुताबकत मुख्तल हाली मा फसाहती आगे फरमाते हैं और बलागत फिल कलाम उसका मुकतव हाल के मुताबिक होना है मा फसाहती उसके किसके अय फसाहत कलामी कलाम की फसाहत के साथ साथ क्या मतलब देखो बलागत फिल कलाम बलागत फिल कलाम उसका मुख्त हाल के मुताबिक होना है कलाम के फंसी होने के साथ साथ बलागत किसको कहते हैं कलाम का मुख्त हाल के मुताबिक होना कलाम का मुख्त हाल के मुताबिक होना यानी जैसा मौका ऐसी बात जैसा मौका ऐसी बात एक लफ्ज आया इसके अंदर मा फसाहती कलाम के फसी होने के साथ साथ अगर कलाम को मकतब हाल के मुताबिक तो कर दिया कि जैसा हाल जैसा मौका तकाजा कर रहा है इस एतबार से कलाम तो लेकर आ गए लेकिन उसके अंदर फसाहत का एतबार न किया कलाम फसाहत के साथ नहीं आया है ना तो फिर भी बला वो कलाम बली नहीं कहलाएगा उस कलाम के अंदर बलागत नहीं होगी कलाम के अंदर बलागत के लिए ज़रूरी है कि वो कलाम फसीह भी हो कलाम फसीह भी हो उसी को फरमाते हैं वलबलागत फिल कलाम मुताबकत मख्तल हाल फसाहती ही अई फसाहत कलामी और बलागत फिल कलाम उसका मख्तज हाल के मुताबिक होना है कलाम के फसी होने के साथ इसमें तीन चीज़ें होंगी एक होता है हाल एक होता है मुखोत हाल एक होता है मुताबकत मुख्तज हाल यानी मुख्तज हाल की मुताबकत एक होता है हाल और एक होता है मुख्तज हाल और एक होता है मुताबकत मुख्तज हाल हाल किसको कहते हैं हाल हुल अमरुदाई इला अन युतबर माल कलाम लजी युद्दी बिही असलमराद खसूसियत हाल वल अमरू वो ऐसा अम्र है अद्दाई जो दावत देने वाला है बुलाने वाला है तकाजा करने वाला है जो तकाजा करने वाला है मिसाल के तौर पर इनकार है इनकार कोई शख्स इनकार करता है है ना जो तकाजा करने वाला है इला अन इस बात का यो यो तब युतबर यातबिर माल कलाम लदी अदी भी असल मुरादी के उस कलाम के साथ जिसके ज़रिए से असल मुराद को अदा किया जाता है खसूसियतुम्मा इसका ताल्लुक युतबर से युतबर खसूसियतुम्मा किसी खसूसियत का अतबार किया जाए तर्जुमा थोड़ा मुश्किल सा है वह हुआ मुख्तर हाल ही और वो मुख्तर हाल है तो देखो यहाँ पहले इसको समझो एक शख्स है वो इनकार करता है मुनकर है किस बात का एक शख्स ये कहता है कि जेद घर में नहीं है एक शख्स ये कहता है कि जेद घर में नहीं है हम्म? तो अब इसका ये मुनकर होना इनकार करना एक हाल है इनकार करना एक हाल है मुक्त हाल जिसका हाल तकाजा करता हो तो अब मुक्त हाल क्या होगा इनकार ये एक हाल है है ना अब मुक्त हाल जिसका हाल तकाजा कर रहा है तो क्या होगा कलाम को काय के साथ लाया जाए है? ताकीद के साथ इनकार करने वाला है तो कलाम को किस चीज के साथ लाया जाए ताकीद के साथ लाया जाए ठीक है अब हम कलाम को ताकीद के साथ ले आए तो क्या हुआ मुख्त हाल की बेशक देर घर में है बेशक देर घर में है अरे समझ में आई नहीं आई इसके अलावा और मिसाल देख लो जैसे जेद खड़ा है ठीक है एक शख्स इनकार करता है कि भी जेद खड़ा नहीं है तो जेद खड़ा नहीं है ये इनकार कर रहा है ना तो इसका इनकार ये एक हाल है ठीक है और कलाम को लेकर आना किस तरह ताकीद के साथ ये मकसद हाल है यानी हाल इस बात का तकाजा कर रहा है कि कलाम को जो ना ताकीद के साथ कहो ताकि ये इनकार करने वाला भी मान जाए ये मुख्तज हाल है और हमने क्या करा कलाम को इनकार के कलाम को ताकिद के साथ ले आए तो अब ये क्या हुआ ये मुख्तज हाल के मुताबिक होगी कभी हम कलाम को ऐसा ले आए हैं जैसा हाल तफाजा कर रहा था मुताबक उसी को कहते हैं कि ऐसे ही कलाम कर देना ऐसी ही बात पेश कर देना कि वो उस पर फिट हो जाए अरे आई समझ में आ गई ना चलो वल हालू और हाल हुल अमरुद्दाई वो ऐसा अम्र है जो तफाजा करने वाला हो इस बात का कि उस कलाम के साथ जिसके ज़रिए असल मुराद को अदा किया जा रहा है क्या किया जाए किसी खसूसियत के अतबार किया जाए जैसे मिसाल के तौर पर ताकीद के साथ कलाम को लाया जाए ये खसूसियत है वह हुआ मुख्तल ही और वो मुख्त हाल है मसलन काउन मुखातबी मुनकर हाल उन मुखातब का हुक्म का इनकार करने वाला होना ये एक हाल है तख्तवी ताकिद हकमी व ताकीदी तख्तवी ताकिद हकमी वो हुक्म के मुक्द लाने का ताकिद के साथ लाने का तकाजा करता है व ताकिद मुख्तल ही और ताकिद क्या है मुख्त हाल है हम्म, वकौल का और तेरा उससे कहना किससे मुखातब से क्या इन्ना जईदन फिदारी मुक्दन भी इन्ना कि बेशक जैद घर में है मुक्दन भी इन्ना इन्ना की ताकीद से इन्ना की ताकीद के साथ इन्ना के साथ ताकीद शुदा कलाम इन्ना की ताकीद से कलामुन ऐसा कलाम है मुताबकत हाली जो मुख्त हाली के मुताबिक है आगे समझ में